तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे मन में परमात्मा के ज्ञान स्वरूप को उसकी सर्वज्ञता को रखेंगे Oh. प्रेमी सज्जनों वेद हमारे लिए क्या उपदेश करता है आज के दिन हमें किन भावनाओं को अपने मन में रखना चाहिए ईश्वर की प्रार्थना किस रूप में करनी चाहिए इसके लिए आज का प्रार्थना मंत्र है आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश का पैतीसवां मंत्र ये ऋग्वेद का मंत्र है पहले मंडल के सोलहवें सूक्त का नवा मंत्र मंत्र है सेमम नह काममाप्रिणा गोभिश्व शतक्रतो स्तवाम त्वा स्वाध्य इस मंत्र का देवता इंद्र है अर्थात इसमें हम इंद्र को संबोधित करते हैं इसके लिए इस मंत्र में शब्द है शतक्रतो शतक्रतु इंद्र का नाम है और उसे संबोधित किया जा रहा है हे शतक्रतो यहां इंद्र परम पिता परमात्मा ही है उन्हीं को शतक क्रतु नाम से संबोधित किया जा रहा है शतक क्रतु शब्द का अर्थ है जो बहुत सारे कर्मों वाला है इसके प्रारंभ में है शत जिसे हम सौ के अर्थ में लेते हैं शत शब्द बहु अर्थ में निघंटू में पढ़ा गया है बहु का अर्थ है अनेक बहुत सारे और इसलिए शत शब्द का अर्थ अनंत भी लिया जाता है हम जब एक दो तीन संख्या करते हैं तो सौ पर आकर के एक परिपूर्णता होती है अधिकता होती है तो यहां शत का अर्थ है बहुत सारे और बहुत सारे को भी महर्षि ने खोला है अनंत जिनकी कोई संख्या हम नहीं कर सकते इतने और क्रतु शब्द कर्म नाम में पढ़ा है निरुक्त निरुक्त में क्रतु का मतलब है कर्म तो असंख्यात कर्म हैं जिसके ऐसा वो परमात्मा ऐसा वो इंद्र और क्रतु प्रज्ञा के नामों में भी पढ़ा गया है प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि तो बहुत सारी बुद्धि है जिसकी ज्ञान है जिसका ऐसा वो परमात्मा जिसके लिए महर्षि ने यहां पर अर्थ करते हुए कहा आप असंख्यात विज्ञान आदि यज्ञों से प्राप्य हैं प्रज्ञा विज्ञान और उसको यज्ञ के साथ में जोड़ दिया क्योंकि यज्ञ भी एक क्रतु है कर्म है अच्छा कर्म है ऐसे हे परमात्मा हे इंद्र हे शतक्रतु उसे हम संबोधित कर रहे हैं और उसकी के लिए सर्वनाम शब्द प्रारंभ में प्रयोग किया गया सेमम सह इमम संस्कृत की दृष्टि से अगर सामान्यतया हम इस सेमम शब्द को देखते तो यहां हम विच्छेद करते सा इमम सह इमम नहीं बनता सा इमम और सा शब्द स्त्रीलिंग में है ये सरनाम लेकिन सा किसको कहे यहां कहीं संगति नहीं है इसलिए वेद में इस प्रकार की संधियां भी होती हैं ये शब्द है सह इमम तो सह मन वह वह कौन तो इस सूक्त का देवता इंद्र है इस सूक्त का ये नवा और अंतिम मंत्र है इससे पहले आठ मंत्र और आ चुके हैं वहां जिसका वर्णन किया गया वह जो प्रसंग से चला आ रहा है वह परमात्मा सह सह परमात्मा वह परमात्मा और इसको दूसरे ढंग से हम देखेंगे जब हम शतक्रतु बोल रहे हैं संबोधित कर रहे हैं हे शतक्रतो हे अनंत कर्मों के करने वाले परमात्मा तो जिसे हम संबोधित कर रहे हैं वो हमारे सामने है सामने हम किसी को कह रहे हैं संबोधित कर रहे हैं और जिसे सामने संबोधित करते हैं उसको सामान्यतया संस्कृत भाषा में तुम से बोलते हैं अहम मैं होता है तो हम सामने वाला होता है और सह कोई अन्य होता है एक तरफ शतक्रतु बोलते हुए परमात्मा को साक्षात संबोधित कर रहे हैं सामने उपस्थित मानते हुए बोल रहे हैं और दूसरी तरफ सह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो कि अन्य पुरुष के लिए किया जाता है अन्य कोई लेकिन संस्कृत के अंदर सह जो है ये प्रथम पुरुष के लिए प्रयुक्त किया जाता है और प्रथम पुरुष भगवान के लिए भी प्रयोग किया जाता है जब हम आदरार्थ बोलते हैं भगवान सम्मानजनक रूप में बोलते हैं तब भी प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है तो शतक क्रतु ये संबोधन है और सह से हमें अन्य दिखाई दे रहा है तो यहां स प्रथम पुरुष की दृष्टि से लेते हुए सह भवान ऐसे वह आप वे आप शतक क्रतो भगवान का अध्याहार स्वतः आएगा क्योंकि शतक क्रतो शब्द यहां पर कहा गया है और दूसरा यहां पर प्रेरणा ये क्रियापद है जो हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं आ यानी समन्ता सब ओर से अच्छी तरह से प्रेरणा पूर्ण कीजिए आप्रेरणा ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है यानी हम किसी को सामने वाले को कह रहे हैं शतक शतक्रतो इसलिए सह के साथ में जब हम जोड़ेंगे तो ऐसा वो परमात्मा जिसका वर्णन पिछले आठ मंत्रों में किया गया ऐसा वो इंद्र और आप सम्मानजनक रूप से बोल रहे हैं इसलिए महर्षि ने नीचे जो पदार्थ दिया है इन्होंने सह सो आप वह आप ऐसे आप न हमारी ये प्रार्थना सामूहिक रूप से की जा रही है आर्यों के द्वारा सामूहिक रूप से की जा रही है हम सब की ष्ठी एक वचन इमम इस इसको द्वितीय एक वचन कामम कामना को काम को हे शतक्रतो परमात्मा हमारी न हमारी इमम कामम इस कामना को कौन सी कामना है ये यहां मंत्र में उल्लेखित नहीं किया गया हमारी इस कामना को जो भी हमारी कामना है जो भी हमारी कामना है वह कामना इस मंत्र में आगे शब्द हैं रश्वई ही गो का मतलब गाय भी होता है अश्व का मतलब घोड़ा भी होता है लेकिन अन्य अर्थ भी होते हैं वो महर्षि ने खोले हैं गायों और अश्वों के द्वारा इन शब्दों को देख करके एक सामान्य प्रतीति ये हो सकती है कि यहां किसकी कामना की गई है गाय और अश्व की लेकिन गाय और अश्व की कामना यहां नहीं है गाय और अश्वों के द्वारा इमम कामम इस कामना को कामना क्या है वो अभी भी छिपी हुई है प्रकट नहीं है लेकिन कामना कैसे पूर्ति होगी इन गाय और अश्व आदि के द्वारा गाय और अश्व को यहां लक्ष्य नहीं बनाया है गाय और अश्व हमारी कामना नहीं है इनके द्वारा हमें कामना पूर्ति करनी है ये हमारे साधन है माध्यम है तो गो शब्द से ये गाय पशु भी लिया जाता है ये बहुत हमारे लिए उपयोगी है गो शब्द से इंद्रियों का ग्रहण भी होता है गच्छती इति गौ जो गमन करती है इंद्रियां भी गमन करती हैं गतिशील हैं ज्ञान देती हैं हमें प्राप्ति कराती हैं बोध कराती हैं इसलिए ये भी गौ है तो इन इंद्रियों के द्वारा न कामम हमारी कामना को इमम कामम इस कामना को आप प्रेरणा भली प्रकार से पूर्ण कीजिए जब हम इंद्रिय अर्थ लेंगे तो इंद्रियों से हम किन कामनाओं को पूरा करेंगे तो स्थूल रूप से हम यही सोचते हैं कि इंद्रियों से तो फिर सांसारिक विषयों को भोगेंगे क्या परमात्मा से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इन इंद्रियों से हम सांसारिक विषयों को भोग सकें परमात्मा ने ये इंद्रियां केवल विषय भोग के लिए नहीं दी हैं हमारी जो कामना है वो जो कामना हम सबकी है वो कामना इंद्रियों के माध्यम से पूर्ण होती है इंद्रियों से जो विषय भोग किया जाता है मात्र वही नहीं वो माध्यम है उससे जिस कामना को हम प्राप्त करना चाहते हैं जिस नित्य सुख को पाना चाहते हैं वह कामना इन इंद्रियों से हमारी पूर्ण हो यदि केवल विषय भोग में लगा रहा तो इन इंद्रियों से इन गायों से वो कामना पूरी नहीं हो सकती तो जिस कामना को हम सब करते हैं जिस शुद्ध सुख को हम सब चाहते हैं वह इन इंद्रियों से भी पूर्ण हो यानी इन इंद्रियों से पूर्ण होती है वो इन इंद्रियों के सदुपयोग से हम उस नित्य सुख को प्राप्त कर सकते हैं ये इंद्रियां केवल सांसारिक भोगों के लिए नहीं है मुक्ति की प्राप्ति का भी ये साधन परमात्मा ने बना के दिया है इसलिए हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभो भी अश्वई इन गायों और अश्वों से तो गो का अर्थ महर्षि ने आके किया श्रेष्ठ पशु अन्य भी जितने श्रेष्ठ पशु हैं वो भी हमें चाहिए और अश्व का स्वामी जी ने अर्थ किया अश्व विद्या अश्वतरी रथ को कहते हैं अश्व विद्या होती है जिससे हम गमन करते हैं विविध प्रकार के वाहन सुरक्षित वाहन तीव्र वाहन जैसे आजकल बहुत सारे वाहन हैं ऐसे वाहन भी हमें प्राप्त हों और इन वाहनों के माध्यम से हमारी वह कामना पूर्ण कीजिए इमम कामम इस कामना को आप पूर्ण कीजिए हमारी ऐसी बुद्धि रहे कि हम इन अश्वों से इन वाहनों से ऐसा उपयोग ले में कि हमारी वह कामना पूरी हो जाए तो हे शतक्रतो स भगवान वह आप न हमारी इमम कामम इस कामना को आप प्रणा सम्यकतया परिपूर्ण कीजिए किससे गोभीर ही इन सब साधनों को देते हुए और परमात्मा इन सब साधनों को दे करके हमारी उस कामना को ही पूर्ण करना चाहता है और ऐसा करते हुए हम क्या करें फिर परमात्मा हमारी इन कामनाओं को पूर्ण करता है तो महर्षि ने जो अर्थ में लिखा हमारे काम को परिपूर्ण करो फिर हम भी उसके बाद में हम भी यानी पिछली बात के साथ में इसको जोड़ दिया है उन्होंने फिर हम भी क्या करेंगे स्तवाम त्वा आपको या आपकी स्तवामा स्तुति करें सम्यक प्रकार से स्तुति करें वो स्तुति कैसी हो उसके लिए विशेषण दिया स्वाध्य महर्षि इसका अर्थ करते हैं सुबुद्धि युक्त तो हो करके स्तुति हम करें कैसे सुबुद्धि युक्त तो हो करके स्वाध्याय शब्द सु और आंग पूर्वक ये उपसर्ग है सु यानी सम्यक प्रकार से आ यानी समानता सब ओर से कोई कोना छूट ना जाए और धातु है ध्यय चिंतायाम चिंतन करके अच्छी प्रकार से सम्यकतया चिंतन करके ऐसे हम जो अच्छी प्रकार से सब ओर से चिंतन करते हैं विचार करते हैं ऐसे हम त्वास्तवाम आपकी स्तुति करें बिना चिंतन के बिना विचार के बिना बुद्धि का प्रयोग किए परमात्मा की स्तुति हमें नहीं करनी है किसी ने हमें बता दिया परमात्मा ऐसा ऐसा है और हमने बस मान लिया और बोलते चले जा रहे हैं वर्षों निकल गए जीवन निकल गया उन्हीं को बोलते बोलते ये केवल शब्द मात्र रहता है और कुछ भावना मन में बना के रखते हैं कुछ श्रद्धा बना के रखते हैं लेकिन ये अच्छी प्रकार से चिंतन पूर्वक नहीं हुआ परमात्मा की जो स्तुति करें उस पर पहले विचारें कि परमात्मा ऐसा है या नहीं उसको भली प्रकार से समझें विचार करके स्वाध्यात्वास्तवा में वेद का आदेश है ईश्वर हमें स्तुति के लिए कह रहा है लेकिन कैसे स्वाध्य एक तो अच्छी प्रकार विचार के और विचारने के बाद में समझ करके जब हमें ये प्रतीति हो कि परमात्मा ऐसा है तब हमारी स्तुति निकले मन में यदि संदेह है कि परमात्मा ऐसा है या नहीं है और फिर हम उस शब्द को बोलते जा रहे हैं कितनी बार भी बोले वो स्तुति स्तुति रूप में नहीं बन पाएगी अंदर से कितनी भी श्रद्धा जैसा बना करके हम उन शब्दों को बोलते जाएं वो वास्तविक स्तुतियां नहीं है स्तुति का जो प्रभाव आना है वो नहीं आएगा वो लाभ नहीं होगा अच्छी प्रकार विचार करके अच्छी प्रकार से समझ करके और फिर त्वा तेरे को स्तवा में हम स्तवन करें स्तुति करें महर्षि ने इसका अर्थ किया सुबुद्धि युक्त होके उत्तम प्रकार से आपका स्तवन करें स्तुति करें अच्छी प्रकार सुबुद्धि युक्त होकर के और फिर उत्तम प्रकार भी लिखाएं और ये दोनों विशेषण दिए हैं इसका मतलब है कि हम सुबुद्धि युक्त ना होते हुए भी स्तुतियां करते हैं और उत्तम प्रकार से ना करते हुए भी हम स्तुतियां करते हैं यानी गलत तरीकों से भी परमात्मा की स्तुतियां करते हैं बिना सोचे समझे भी करते हैं और गलत ढंग से भी स्तुति करते हैं दुनिया में बहुत लोग परमात्मा की प्रार्थना करते हैं और उसकी स्तुतियां करते हैं परमात्मा का ठीक स्वरूप उन्हें पता ही नहीं है परमात्मा को गलत रूप में मानते हैं और उसकी ऐसी ऐसी प्रशंसा करते हैं जैसी कि उसमें है ही नहीं वो वास्तव में स्तुति नहीं है वो निंदा है जब कोई व्यक्ति परमात्मा को कुछ भेंट देने से पापों का नाश करने वाला समझेगा स्तुति तो कर रहा है वो अपने ढंग से अपनी दृष्टि से वो प्रशंसा कर रहा है परमात्मा की आप ऐसे हो कि मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया आप तो दयालु हो आप तो इसी समय क्षमा कर देंगे मुझे अपने ढंग से वो स्तुति करने की भावना लेकर के बैठा है किंतु ये सुबुद्धि युक्त तो प्रार्थना नहीं है स्तुति नहीं है और न ये उत्तम प्रकार से है स्तुति परमात्मा की स्तुति सम्यक ज्ञान के बाद ही हो सकती है जितना अच्छा ज्ञान होगा उतनी अच्छी स्तुति हम कर पाएंगे और स्तुति करते समय जो भावना बनाई जाती है अर्थ की भावना बनाई जाती है ये उसी व्यक्ति की अच्छी बनेगी जिसने विचार पूर्वक परमात्मा को वैसा स्वीकार किया है उहापोह करके समझा है कि परमात्मा ऐसा है तब एक एक शब्द बोलते हुए वो सारा अर्थ उसके साथ जुड़ करके आता है तो इसके लिए महर्षि ने भाव के रूप में और बात लिखी नीचे अनुच्छेद में हमको दृढ़ निश्चय है किनको दृढ़ निश्चय है ये ये आर्यों को दृढ़ निश्चय है आर्य ऐसा होता है वो इतना दृढ़ निश्चय कर चुका है उसे ज्ञात है अच्छी प्रकार से हमको दृढ़ निश्चय है कि आपके बिना दूसरा कोई किसी का काम पूर्ण नहीं कर सकता बड़ी दृढ़ता से महर्षि ने वाक्य लिखा है लेकिन विचार के योग्य है आपके बिना दूसरा कोई किसी का काम पूर्ण नहीं कर सकता इस वाक्य का जो हम सामान्यतः अर्थ लेते हैं वो क्या काम का मतलब कार्य हमारे बहुत से कार्य होते हैं मकान बनाना है नौकरी को पाना है इत्यादि कामनाएं होती है बहुत सी तो आपके बिना और कोई हमारी कामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकता कोई किसी का काम पूर्ण नहीं कर सकता काम यानी कार्य कोई किसी का कार्य पूर्ण नहीं कर सकता तो मन में प्रश्न उठेगा व्यवहार में हम देखते हैं हम भी किसी का काम पूर्ण करते हैं दूसरे भी हमारा काम पूर्ण करते हैं काम यानी कार्य तो महर्षि का ये वचन कैसे बन गया कि आपके बिना दूसरा कोई किसी का काम पूर्ण नहीं कर सकता इसकी एक अर्थापत्ति निकल के आती है कि परमात्मा ही हमारे काम को पूर्ण करता है परमात्मा ही हमारे कार्य को पूर्ण करता है और कोई नहीं करता है लेकिन प्रत्यक्ष में तो हम देखते हैं दूसरे भी करते हैं यदि इसी दृष्टि से हमें अर्थ लेना है काम का मतलब कार्य तो इस वाक्य को हम ऐसे देखें कि दूसरे व्यक्ति हमारे काम को पूर्ण करते हैं लेकिन आपके बिना नहीं कर सकते वो जो हमारा काम पूर्ण करते हैं वो केवल अपने बल से नहीं करते हैं आपकी सहायता से ही वो हमारा काम पूर्ण करते हैं आपके बिना वो हमारा काम पूर्ण नहीं कर सकते अब इस वाक्य का दूसरे ढंग से अर्थ आपको लगेगा हमको दृढ़ निश्चय है कि आपके बिना दूसरा कोई किसी का काम पूर्ण नहीं कर सकता अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी का काम जब पूर्ण करता है तो वो आपकी सहायता से ही करता है आपकी सहायता के बिना आपके बिना वो काम को पूरा नहीं कर सकता अब इस अर्थ ढंग से अर्थ देखेंगे तो ये हमें संगत लगेगा कोई भी व्यक्ति जब हमारा काम पूर्ण करता है तो उसे भी बहुत सी सहायता की आवश्यकता होती है वो भी अन्न जल का ग्रहण करता है वो भी शरीर बुद्धि का प्रयोग करता है ये किसने दिए हैं उसको किसकी सहायता से मिले हैं वो कौन उसके जीवन को चला रहा है तो परमात्मा उनके भी जीवन को चला रहा है तो इसके पीछे हम अब क्या दृष्टि देखेंगे आर्य क्या देखेगा कि जब भी कोई व्यक्ति हमारी सहायता करता है हमारे काम को पूर्ण करता है उसमें भी हम परमात्मा का सहयोग देखेंगे परमात्मा का मुख्य सहयोग देखेंगे साक्षात सहयोग उस व्यक्ति का मिल रहा है लेकिन हम उसके पीछे परमात्मा को भी जोड़ लेंगे और इससे अंतर क्या पड़ेगा यदि हम सामने वाले व्यक्ति को ही देखते हैं इसने मेरा काम किया तो हम उसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं उसी के प्रति हम अपनी भावनाएं बनाते हैं हम उसके अनुसार चलने लगते हैं एक काम दो काम दस काम सैकड़ों काम हम दूसरों के सहयोग से करते हैं वो हमारे कामों को पूर्ण करते हैं और ये करते करते हमारी बुद्धि क्या बनेगी हमें इनका ध्यान रखना है हमें इनकी बात को मानना है हमें इनके किए के अनुसार चलना है हमें इनको भी सहयोग करना है ये मन व्यक्ति का व्यापक रूप से बन जाता है बना रहता है आर्य को ऐसा मन नहीं बनाना है आर्य उन सहयोगियों को भी ध्यान में रखेगा लेकिन साथ में यह ध्यान रखेगा कि ये जो सहयोग कर रहे हैं इसके पीछे परमात्मा जुड़ा हुआ है और जब वो ये देखेगा ये समझेगा ये स्वीकार करेगा तो अब कितना अंतर आ जाएगा अब वो केवल सामने वाले के प्रति कृतज्ञ नहीं होगा वो परमात्मा के प्रति भी कृतज्ञ होगा और हर उस सहयोग के पीछे वो परमात्मा को देखेगा और हर सहयोग में परमात्मा की सहायता स्वीकार करेगा तो परमात्मा के प्रति वो कृतज्ञ होगा अधिक कृतज्ञ होगा परमात्मा की आज्ञाओं को पालन करने के लिए अधिक तत्पर होगा परमात्मा के आदेश के अनुसार चलने में प्रसन्नता रखेगा अधिक प्रयत्न करेगा और जब कभी लौकिक व्यक्ति और परमात्मा के आदेशों में भिन्नता आ जाए लौकिक व्यक्ति के अनुसार चलने में और परमात्मा के अनुसार चलने में भिन्नता आ जाए तो उसके मन में परमात्मा की प्रमुखता रहेगी मैं परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप चलूंगा इनके अनुसार नहीं चलूंगा और ये एक बहुत बड़ा बिंदु है व्यक्ति के जीवन में व्यवहार करने में तो आर्य की क्या भावना रखनी चाहिए आर्य को क्या सोचना चाहिए हमको दृढ़ निश्चय है कि आपके बिना दूसरा कोई किसी का काम पूर्ण नहीं कर सकता पहले वाले अर्थ में हमें संशय रहेगा कि ऐसा कैसे जब हम ये अर्थ लेंगे कि परमात्मा ही हमारे काम को पूरा करता है और कोई नहीं करता अभी प्रत्यक्ष से विरुद्ध हो जाएगा ऐसा वचन महर्षि का नहीं हो सकता इसलिए दूसरा अर्थ यहां पर लेना चाहिए इसका और दूसरा गंभीर अर्थ यदि हम लेना चाहें और जो पहला अर्थ हमें गलत लग रहा था उसको भी उसी ढंग से लेना हो लेकिन एक शब्द का अर्थ बदलेंगे तो वो भी हमें ठीक लगेगा काम शब्द का अर्थ पहले किया था कार्य अब काम का मतलब ले लेंगे कामना मंत्र में जैसा कहा सेमम न कामम आपृणा हमारे काम को पूर्ण कीजिए हमारी कामना को पूर्ण कीजिए इच्छा को पूर्ण कीजिए अब यहां भी काम का अर्थ हम ले लेंगे इच्छा अब अगर अर्थ करेंगे कि परमात्मा के बिना अन्य कोई किसी की उसमें हम भी सम्मिलित हो गए अन्य हमारी नहीं हम भी किसी की कामना पूर्ण नहीं करते हम भी किसी के कर्मों को पूरा नहीं करते हमारे पीछे भी परमात्मा है अरे ये भी भावना रखेगा महर्षि ने जो लिखा कोई किसी का उसमें हम भी सम्मिलित हो गए तो जो मैं पहले व्याख्या कर रहा था उसमें अपने को भी हम सम्मिलित करेंगे जब हम दूसरे की सहायता करेंगे दूसरे के काम को पूर्ण करेंगे तो हम ये नहीं समझेंगे आर्य ये नहीं समझेगा कि मैंने इसके काम को पूर्ण किया है वो ये याद रखेगा कि परमात्मा की सहायता से मैंने ये काम पूरा किया है लेकिन जब हम ये अर्थ लेंगे कि परमात्मा के बिना कोई भी किसी की का, काम काम को कामना को पूर्ण नहीं कर सकता यानी परमात्मा ही कामना को पूर्ण करता है तो सहायता की दृष्टि से भी संगति लगेगी और यदि हम परमात्मा की सहायता को छोड़ के ही देखना चाहें कि अन्य कोई हमारी कामना को पूरा नहीं करता किस कामना को नित्य सुख की कामना को दुख से पूर्ण निवृत्ति की कामना को अब यहां काम का अर्थ कामना और वो अंतिम कामना जो हम सबकी है उसको परमात्मा के अलावा कोई पूर्ण नहीं करता लौकिक कामनाएं अन्य पूर्ण करते हैं और उन कामनाओं के पूर्ण करने में परमात्मा छिपा है पीछे लेकिन मुक्ति की कामना को परमात्मा के अलावा कोई पूर्ण नहीं कर सकता और हमें वही कामना पूर्ण करनी है इसलिए परमात्मा के ही आदेश का हमें पालन करना है अब अगली पंक्ति फिर देखिए आपको छोड़ के दूसरे का ध्यान व याचना व याचना जो करते हैं उनके सब काम नष्ट हो जाते हैं बड़ा विचित्र वाक्य है लेकिन गहरा वाक्य है ऐसे ही नहीं लिखा गया है ये हम इसे स्थूल रूप से देखेंगे तो जो परमात्मा का ध्यान नहीं करते परमात्मा से याचना नहीं करते यानी अन्यों का ध्यान करते हैं अन्यों से याचना करते हैं क्या उनके सब काम बिगड़ जाते हैं बहुत सारे काम पूर्ण होते हैं लेकिन महर्षि कहते हैं उनके सब काम नष्ट हो जाते हैं ये सामान्य दृष्टि से कहा हुआ वाक्य नहीं है पहले वाक्य की तरह यहां भी हमें समझना चाहिए जो दूसरे का ध्यान करेगा दूसरे का स्मरण रखेगा दिन के व्यवहारों में उसके अनुसार कर्म करने लगेगा और जो परमात्मा का ध्यान रखेगा वो परमात्मा के अनुसार कर्म करने में अपने को तत्पर रखेगा प्रवृत्त रखेगा हमारे जितने भी काम हैं जिन्हें हम कहते हैं ये काम पूर्ण हो गया ये काम पूर्ण हो गया ये मकान बन गया ये फसल हो गई ये कुआ खुद गया ये फैक्ट्री लग गई ये कपड़े सिल गए ये जो जितने भी हम काम सोचते हैं दुनिया में सैकड़ों हजारों काम हम करते हैं और परिपूर्ण समझते हैं वो सारे काम नष्ट हैं यदि इनका प्रयोग करते हुए मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ा व्यक्ति वो नष्ट ही है हम समझ रहे हैं कि ये परिपूर्ण हो गए काम हम समझ रहे हैं कि ये सब पूर्ण हो गए हैं ये सब नष्ट है व्यर्थ है यदि उसको नहीं पाया इन सबको करते हुए वो तब होगा जब परमात्मा का ध्यान और परमात्मा से ही याचना करेंगे नहीं तो अन्यों से याचना करते रहे उनके अनुसार ही हम चलने लग जाएंगे और हमारे वो सब काम जिन्हें हम सोच रहे हैं कि ये पूरा कर लिया पूरा कर लिया वो सब नष्ट व्यर्थ ही रहेंगे हम भले ही सोचते रहे कि हमने सैकड़ों काम पूरे कर लिए और जीवन मेरा तृप्त है मैंने बच्चों को पढ़ा लिया ये कर लिया वो कर लिया मकान बना लिया सब कुछ व्यवस्थित कर लिया कितना ही संतुष्ट हो ले बस अब तो क्या करना है मुझे ये सब नष्ट है क्योंकि परमात्मा का ध्यान नहीं किया परमात्मा से याचना नहीं की तो आर्यों का अभिविनय आर्यों की प्रार्थना क्या होनी चाहिए वो आज के मंत्र में भी हमारे सामने आया है आर्य इन भावनाओं को रखते हुए अपना जीवन चला सके इसलिए महर्षि ने इस मंत्र का ये अर्थ भाष्य हमारे लिए किया है आर्य की भावना को जो आज के मंत्र में हमने समझी है उसे रखते हुए परमात्मा का स्मरण ओम का उच्चारण और शांति पाठ ओ शांतिरक्ष शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरो औषधयः शांति वनस्पत शान्तिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शान्तिरेव शांति सामा शान्तिरेधि ओ शांति शांति शांति सर्वेभ्यो नमः